या वो उन्हें खौफ ज़्यादा होने पर पकड़ ले बस यकीनन तुम्हारा रब यकीनन बहुत नरमी करने वाला नहायत रहम वाला है